તો આ મને સોચ લ્યો કે ઇન્સાનનો કંઈ ને કેટલું લાગુ तो, तो आप हाथ बने दोनों को तो हम जाए जी लोग हम हमजा जी हम जाए जी माँ हम जाए जी लेन देन कर दियो आरो से पार से लोग हम जाए जी तो आ तो बात ही मान ली करता करता दे कई दिन बीत गए आज तो नजीक के आदमी छे नहीं पड़ते जट आप जाओ रोटी खाई दाऊ छे कांकड़ में जो कोई आदमी दूध आवे तो पच्चीस पाउंड आंसर जाने आज कोई छह मिनट जबरी भी है बकरी चौधर और चौधरी और चौधर हैरान में इन हम जाना रहे तो आ तो नेड़ी जावे केवल भाई अबे इन्हें समझाने वाला कौन है अरे अड़ो कौन है जो इन्हें समझा सके उन गांव रामायण है नायो हमकारो बजो सागर मैं इन्हें समझा सा छोटे थे हंदे बोले क्या था ना छोटे छोटी तू नाम सारा और मैं था ना कोई बात हूँ राग दो नहीं और इन्हें इन चीज में हम जाए और इन्हें ले तो समय हम जाए वाह हुकुम जिन्हें पंखेरों में कागलो और इंसान में नाई ये दो हजार छासठ जन जन नाई के दिन गया चराउन डोगो ही होड़े होड़े होड़े होड़े होड़े होड़े होड़े होड़े जिजावतो जिजावतो जिजावतो छेवट उन नेड़ी दिजई दिजई नाडो पड़तो जंगड़ाई जोड़े जंगड़ो ही जोड़ो नेत्र वाघ खासड़ को माजो राख राखती दोती हिटोलिया बिना तो पाचो लांग थाके थी खुल kulila जो आ और मैं पानी पीऊं मारे गांडरे हारो राख आने पानी पाछो निकल जानो अपन आगे काम दे वाह बात छोड़ी देखो क्यों वो देसी हो रो डूंगर वाह गेडी जो लगाई वाह आओ पानी पिए क्या थोड़ी देखे थोड़ा जोर दे आओ पानी पिए હા हाँ अरे बहुत देखे बहुत देखे वो कहीं गुटका मार लोगी पानी क्या कहीं हवा ला दो भाई पानी हाथ वाह भाई वाह गांड रह रहा के मतलब पानी बड़ो सवाल लग केरो हवा लगो कि हाँ जन सने कहीं था कि जन मारी हारो रात मैं पीऊँ तो केरो हवा लगे कि हाँ वाह नहीं दिया उठान तो आज पानी पीते गंदा रहे फिर कहीं फिर कहीं हुआ बना नादान लड़की भाई हर कहा नहीं थोड़ा आगो चकल तो के फिर पानी के गुट को मारी आगो तक तो हर कहा हाँ हाँ थोड़ा आगो बड़ा पानी पियाने के हाँ गाऊं हाँ गाऊं वो इन्हें मजा पानी पाए यह कहता हूँ खेता में गया भुगती भरी कने छोरी कने घर ली नाई कने भुगती वाह थोड़ा आगे बादला नादला ने देखे अनके क्यों गबे कहीं करिए गेली ढोल तो पानी ना को बजा बरसात आ रही है बार नया पानी पिए को भुगती उठा खोल उन दिखे दिन बाद भुगती में पानी आठ सात निकल book book book book book ये बोलिया वहाँ घर ले जाए इंटर कल जंगल के बाद है कि खाली भुगती वो पास हमें करना लोटो फान टुड़ी बतुड़ी खाक अब तो पियो ने बैठ गया बाप अब छोरे टिस टिस लागे ने क्यों के भाई थोड़ा पानी पास आकर बोलते तुम थोड़ा राख लिया मने ढुड़ाई दे तो भाई मार तो ढुड़ी दो ढुड़गो में हमें कर दो पानी है मैं आ बात में जोड़ नहीं क्यों पानी है पण अब हारो रह के मैंने पिया के हारो मजा आवे पानी अभी हम दबार डकड़ डकड़ पीना काई मतलब तो हारो राखो हम तुम मैं थार राखू तुम हार राख दी जा तो कहा आते ना मरते अब हुकुम क्यों करे दे पहले थारे हार उड़ा कौन तू पे वाण हटे लेटांगा अब छे गुड़ते नहीं रहते छोरे ने हाथ में दिला दे यार अब पियो अब उन वो मजा आयो जो पानी पीना तो बोल गई हाँ हर रात हाँ हर रात हाँ हर रात राह तुम चार पांच दिन खूब रपटाई रपटाई ने ठापर की करो आदमी तो इतो जे पर Ангелът तो तो да му अपन गेल तो बन रहे पाँच दस दिन आटा यार नहीं देखियो आप त्याग आप क्या वजू करना त्याग मैंने डिजाई दी और हम जाए जाट मन में उन्हें सोचो के और बोला मैं दी वाह गम दिन दो गाड़ा पजान के भाई थार सफल कराए हाँ सफल करो मैं कद ना दी था अरे राम लेता दिन तो तू ना दे ना मैं सपन करो ये बोले सपन करो मान मैं कोई तन मना कत करी सपन करियो जाट ने लड़की ने पनाई और उन्होंने हार गिरी और इतनी बात और इतनी बीत सेठ और सेठानी की बात सेठ साहब दिशा वीर कौन पे उन्होंने कमाना तो सेठ सहजता मन में दीजो नहीं कि भाई मैं जाऊं लारे सेठाने कहते हूं तो काम कर लेते हो फिर अब कहीं कर दो चार दिन या वो अटी अटी अटी अटी कथा के मैं पजुड़ो कहीं उन्हें ध्यान लागो नहीं सेठाने ने कहे देख मैं जाऊं थोड़ा काम कर दू और सेठाने वास्ता में चालू है सेठ ने बहम आवे देखियो मैं देश और जाऊं लारा मैं हूं तो यो धंधो करे મેં નહીં સમજાવતો ઘણું કર્યા આ બધું મનમાં ભાંગે ઘડે ભાંગે ઘડે ઉપાય થાય એક દિન બેઠ બેઠો ઉપાય કુમાર બોશે હું ઝાંચ હે जिगर गुंगा ना ठोक दो होशिया से बस गुम किकर कराए वाह शाम रहा होता एक जो गुम एक काम है को बुलवाओ कहीं काम है को ताना जानता नहीं गांठा ठोक दे गुम होशिया रे जो ऊपर से किकर करो वो हमारी बात है लगाए दो घंटे तीन चार घंटा में छुट्टियां बिली कर कर बांध बांध दे चेतावनी बंद आई ली वाह को शेर साहब ने छोड़ दिया ने छोड़ गया पड़ा और बात और रोज काम चला गया पाँच पंद्रह दिन बीस दिन महीनों कैंसिल बदी थी एक बार दिन घंटा कौड़ी पड़ गई बस आप देना मन काम शुरू कर वाह बारह सालों सेठ पास आई जितने भी दुकान टाल देती थी जमीन पर दिन कुछ नहीं देती थी वाह आयो पाचो सेठ रात में बड़ा होता होता वे घंटा देखी कोई नहीं करे घंटा है अरे तारा यह फोट का घंटा देते पड़ी आंतरे तो he said, minute, को कोने करे अब वहाँ से भी दिन होगा डोलन ने ये डोलन रात से पाक चले गए डोलन सब काम में ध्यान हो कि फलानो आदमी का नाम तो फलानो आप तो फलानो जिनके तो। भाई रंग करो और खुशी मनाओ हमारे सेठ आया बारह साहब अब वह डोलन है लोगों को गायन अब वह दो लोग बाजे गीत अब ಅವಗೇತರ वो ಟಿಪ್ಪು नगर अरे दौलक बाजे रे बाया गांटा हेटा कर गया अरे दौलक बाजे रे बाया गांटा हेटा कर गया अरे दौलक बाजे है रूड़ी गांटा वेड़ी रे वेड़ी ए या फोटोरा सेठ ये गांटा देरी देरी पर गांटा हेटा कर काम है तो uncertain term. Kumha Gashkona Kaikyo, Kai Kaikyo, मैं रात दिन टपालते तो नहीं आ शैतान थारे आज दिन कोई काल घंटा सारी बैठी बैठी खोड़ी कितनी बिन घंटा घंटा और घंटा वो तो रात का काम करियो नाइट ने गई उन्हें ठा कोने दमामा नहीं के बात अच्छा हां दमामा नहीं उन्हें सब टाइम वो हैंग आवते जावते देखते देखते घंटा कर देगी घंटा उन्हें बढ़ाऊं देगी केको मां कस कामना गांठा नहीं जन बा पांच दिन दस दिन एक जाते थे जो उन था पड़ गई तो गांठा तो पड़ी पड़ गई लंड कोई मां सोदा ना घंटा ने घंटा रहे अड़को रहे वो तो कटे कर लेन गाल तो बोले वाह को अब वाह वो गानो करियो और कियो दो लोग बाजे रे बाया घंटा टकर गई दो लोग बाजे है रूड़ी घंटा मेरी दी फिर सेठ ने कियो सेठ साहब घंटा ना उड़ा आप गांड देन गया जो तंग किती फिर पास आए जो खोल की आंखों माँ इसका खोल तो को मौका पड़ गया वो भागा तो हाँ वहाँ में देश तो जना आप कहीं विश्वास करिए सेठ लड़की तो कोई तुम्हारे सेठ ने कोई नहीं देखा और आते ही काम चला हैं क्या चलते तो माँ कृष्ण या कितनी वहाँ पे किती लोकांना रागान दाखयना रागो खातीर कितें केलें मरचो तो जाय जरा काटो कायो वे एर से धंधो तो छोडियो एर उन केवणो छोडियो इतनी बात इतनी विगत जाटरी बात चौधरी हो और ब्याह करी ब्याह कर थोड़ा दिन मुखलाव करी मुकलाव कर दो तो चौदह हिंदू को बाप बहुत ही ठंड और बहुत ही इन कामर में लगू जोड़ी जो को दाफेज कोन तो वह कह टाइम उन्हें दाफे इनो मतलब कहीं के बालपण में काचो फोर कराई ले और पछे वा नादान है पछे वह दाफरा में हमें कितनी करो उन्हें वह पूरी मंचा फूल भेज ता बचपन में कटी फोड़ करे उड़ी तो वह दाफराम हम देखो हैंग रात करो चाहे एक दिन करो चाहे दो दिन करो मन चपूर्ण गई तब वो छोड़ दे हड़क है आप बातों लेने जाओ जगो हुकुम बातों तो आंसर मिल तेरे पे लेके वो वो काम करो फाड़े दिन काम बता दूसरी कहीं रोटी पते खाओ पहले मैंने छोड़ दो जाट खाओ घर जावे शाम रहा तो बेड़ो पत्ते करो मने चो तो दे बिल जाट बाग दे आंखे महा अच्छा पल पल रे मैं तेरे आओ मने करो पल पल में के मने करो जाट देख मान ले चो तो मौत आई गई ना बकाई वाह एक दिन रो समय जाट उपाय लगे जना चौमासा रे मैं किरगान रंग करिया करे लारों सफेद बिचमू कालो મુંડો ગુલાબી રાતો એને જકા આવ્યો કિરાણી ઠોકી દઉં મારે માને કયો એ આ ચૂંટી દેખ્યો કે આવતી દિશે દો તીન અટકાઈ લે મહિલો અટકાઈ લે વાહી ચોદ રોટી એક વાર મેં કે લાવો ચોદો रोज रोज के चोदो रोज रोज के चोदो जपे को नहीं मानते चोद लांग खोल अरे यूं हम्म, हम्म, हम्म, कर क्रिकेट जन बार खड़ी कार्ड जन बार फोन से और ने मानते चोद नशा में ठीक तो। के ऊपर ऊपर छिला माउंट से जो फट ले आंखें में बे जाट ने देख के देखे मानते चोदो तो अपन के काम रहे वही पगवा तो पाछी गम में बेही जाए हाथ मुंडा दो रोटी रोटी खाए ए नेड़ो जो गाँव फटो दो तो एक और हाथ पीर हो अब इनका नहीं था और तो लड़ने पान फेंक दिया मादत वाह हुकुम घीबरी जा माँ ने क्यों वो तो मार दे रो निर्जन अरे निर्जन ने तो आज अभी ठीक रहेगा माँ ने जगत के वो वो तो तोड़ फेंक दो ને સામે बारे का કાઢી મારા ક્યાં સામે અરે ઉપર ફેંકી દો છે ને પહોંચે જો લે વાહ બેટા ले गए जा मैं तू तो दिन के तेरी माँ दिन सोने बैठे होगा वाह गो सब कहते थे भाई भू हमें लाटा खड़ा कर दान चारा सब ठाने कर और <clears throat> अब ये लाऊंगा चैत्र में वाह गयो गयो जान दे के माते चौदह कहना मत आयो जरा मैं मैं मेरी बड़ी બસ એ જડી રોટી પકડાય ગાળો કરીને હોય બે દૂરથી એક પાડ્યું બંધ જોડ કરે વાસ થોડો ગંદાવડો પડ્યો નો કમ પાડ્યાને ખોલી પાડ્યાને ખોલીને માગણ આવીશ ઓ જાણ છું એ કે લોકો અરે પાડ્યો ખુલ ગયો સર બેને શું કહે હો તો કઈ કરે જેને હાસું ઉઠી બેને બાંધ પાડ્યા જમાઈનો માથો જડે ઉઠી જાવે પાડ્યાને બાંધ અને પાછી જાતી જડે હાથ પગ પગ કહી દેનો આવું દો કે ચેપી આસુ આસુ ને ચેપી બોલી બોલી ગઈ અરે તારા યા કુટે ભાઈ તું કહેતી ને લંડ પાન ફેંક દો મારે સોજ રે પાડ્યા પગે ચડ मजहा बुला दे जान होती थोड़ी दूरी बड़ा पड़ो पाडियो तो खोले से तो बैंक नहीं था कैसा हौल बांधो है तो पाडियो खुल को है बात आवे लकी आवे कौन उनके बेटा जाए तो मान तो दे हौल पाडिया ने मारू था बड़ मन दे कोनी वाह उठी देखो वो कहीं करी मारो कर तो आई चीज राजी बात વાવ કો વાય કને આઈ બાંધને પાછો ખોટો ઉઠી લાગડો એને માં ચોરો ડળ્યો પાડ્યો બાંધને ફેર એવું ડોકી હું ટાઈમ કાગડી પકડ્યો પકડ ક્યાં બેઠો કે ગાય પડી માથા કે હવે કેવું મિસ કર્યા કરો લણ તો પાન ફેંકે યા હવે કાંઈ કરો મારો તે ગેલી રાન તો સમજે કોને તો ચેત બેસાગરો મહિનો તો લંડ ફોડવો ઓને લાંબો તારો બાપ વાતો કરી કે ખાઓ માર છોકરો કે ખાઓ તું માર છોકરો અરે કે ચેપી ચેપી મજા એને કર માંગે આચાને ચેત બેસાગરો મહિનામાં તો ફોડવું મસ્ત જાન હોય હવે એવું પાડે એવું બેઠા જ બહુ છે ઘંટા દોય ગયા બળો કરી દીધો કરે હાવળ બાંધો કોને કે તને હાથ ભાગોડા ગઈ પાડ્યો શું કે બેન દિન ઉગનાળો વાત છોડી દે કે ઝાપડી ભાઈ હોતી આશુ દા કોને રાખી આગે મને મોડ નાખી કે બેન ને શું જાય બેટા હાવળ બાંધે ને જાનું ને બેન ને સપદે છે જામ મારે જામ મારે બેટી જા બાપ આ પાડ્યો બાંધ ફેરવી ઊંટે હાથ પકડ્યું બસ હાથ પકડી નાખી માથા કે એવું કઈ કરે એવું કઈ કરે એવું કઈ કરે કે ચોપ करना जो कर ले वो नहीं रगड़ वास अब हेंगन ठापर के क्यों नन दीजिए को हेंगन बात कह दिए कि मारे गर्दनी यूं कर दियो यूं कर दियो पान फेंक दियो लेन देन अब हो रहा है दूर गली से के मुंडो बढ़िया चलो मान ना ये कह दियो के पार फेंक दियो उनको कह दियो अरे क्यों देखा ना पाड़ी पगे तो लांबो मार तो झोंकार दियो केवा तो थान था कोनी पाड़ियो तो हो बोझे तू हमसे कोनी चेत बेसागर महीनो पास फूट गो ए थानो करम फूट गो कोई लंडी कोई फूटता है पाता वाह अब हो रहा खो बचे तो खानो बनाई घी ચૂરમા દેણા દેણા પડે હોય અરે હો માદે તો પણ રાણનું થાગો વાવ ગો હવે લાનું થાળ મોડા એના બહુ કઈ કર્યો દોનું પગ ચોડા કર થાળને નેડો ઇરકાય એ કોરે માતે લંડ મે કોઈ આવજો દે તો લંડ પડ્યો કોરે માં રોટી ખાવ કે હાડો કે એવું કઈ કરો બેનજી ना यह फूट गया कहीं पागल है क्या नहीं मैं पागल क्यों ये गाजा बाजा दे रहा है ए रोटियां घी घोड़े मैंने गालता दोबारा घालता रातें घालता अब ये तो गाजा बाजा ही रहा वो पहले जिम ले बच मैं खाऊंगा आज आए ना जोड़िया भाव से जिम लो ऊपर तो बंद करो कि नहीं जा वाह खूब तबीयत रोटी खाई ए, आपने लुगाई लेन घर आयो ए लुगाई क्यों आइंदा हूँ बाप जी आप बात निक रेड़ो धंधो तो बड़ा मत कर तो आप खूब आपने घर आया खूब खेती नो धंधो करे खावे पिए और मौज राजा और कुमारी बात <coughs> <coughs> हाँ। उन गांव में कुमार है और रजारो मेली भाव नज़दीक ही पड़ता अगला जमाना की बात है बना कि कुमार बहुत ही फाटा बोलते और आज तक ही बोले पर अलबत् कम ही है बाकी आप बांडी जाते हो बहन हुणो बेटी हुणो माँ हुणो कोई भी हुणो ब्याह शाह अणता पुंडा बोल वाह उन गांव में बनो ब्याह कुमार ने और अपन तो कहीं ढोल बजा मैंने नंगारा बजा कुमार कुमार नंगारा बजा हम्म। अच्छा। अब नंगारा मान आते पुंडा पुंडा दुआ बुंडा बुंडा दुआ देवे हजारों मेल नजदीकी पड़ता हम्म। मैं लियो गांव बांधे बॉम्बे ने कि जाओ ये कुमारा ने कहो कि सब भूडा मत बोलो और भूडा बोलो तो बंद कर ये कुमार आगे कहता दारू पियोड़ा कहता बिना दारू पियोड़ा खूब मसला करे अनाप शनाप भूडा बोले वहाँ यूँ करते करते वो गयो जान के भाई बंद करो राजा साहब क्यों भाई तो भूडा मत बोलो बंद करो कौन है कि मैं तो गाँव बंद દરેક નું બોલ્યું નાતું નાતું મંગરે મંગરે હળ બે હળ બળનારે ખાંદે મંગરે મંગરે હળ બે હળ બળનારે ખાંદે કે ગામ બામણ ને છોરા છોદે નાળીઓ પગ બાંધે કે તો હાથ લે મુંડો નાટો કે બાબા એ બળે સુણતો જા આવડો તને યાદ કોણ રહી मंगरे मंगरे हड़ बेवन हड़ बड़दा रे खांदे के गांव बावण ने सोरा सोंदे नाड़ियों भगवान वो तो बाप रो नाच डूब हुई वाह को फेरे तो भूडा यूं बोले कामदार साहब ने भेजा मैंने कहा जान बंद और कामदार साहब जान कर भाई साक्षा बहुत मना कर दिया छाणू था भूडा बोलो बड़ा में और कोई छाणू काम है कैसा हमारी जाति मेरी जेती है मान कोई मना नहीं कर सके मैं यूँ बोलूँ મારી જાતિ એડી જાતિ એડી ગઈ તારે બંધ પડી કે આ કોણ હશે કે મેં કામદાર હું ગામડો ઓર કોણ કરી એટલે કે મેં ગામડા કુમાર પટવારી વાજ્યા કરે કુમાર એટલે કે પટવારી હારે પટપટ વાજે ચોધરી હારે ખાંદે ગામ બાંબે ગદડે ચોધે કામદારાને ચાંદે ચાંદે मतलब सारा घर मुंड हरा लाल पर भोजा काम ओ गांव में गदर सो दोनों से कौन कर दो माने की रान की अरे हाल होन तो जब है जन पटवारिया ने पटपट बाजे काम चौधरिया ने खांदे गांव बांव में गदर चौधरी सारे काम दरा ने ठांदे ओए बाप रो नाई को मुंड ले आए जान के सब मानो चलो माने सब माने खुद नहीं बोंडा बोंडा जिन ठाक साहब है जब एक आंख को खाना जहाँ रोप जमाए जोरदार चौदह गाँव बार निकाल दे उन मारते चौदह मारे हाव मकान का नहीं तो बिकराड़ बोलो पूछने बोलो अभी जी शर्म नहीं आता ने क्या हुक्म आप कौन बता रहे हो कि मैं गाँव रो ठाकर हूँ जो इनके हुक्म सुनो आप ही ढोल नंगारा गहरा बाज बांकियो बाजे लेके ठाकर साहब ठकरानी ने चौधरी एक आंख देख फेर के ऊपर सुनता था और अगसे के नमाज से तो बंदा ऐसन के ढोल नगारा गहरा बाजे बांकियो बाजे लेके ठाक साहब ठकराने सो दे गां को देखे ये ठाक साहब रे पास में ये गां के साडी बात वाह ब्याह बेटियो बुलाया कोर्ट चलाओ कुमार कुमार ने गाउँ गाउँमा बिहान के उसलाई भइहाल्यो कोटु बोलावे टोक्सा आमा कहीँ काम कहीँ काम तो मन कहीं ठाक साहब बोलावे सन दोनों जना कि दोनों लोग लगे वहाँ कि हम दोनों में हाल में आओ तो आओ कम अनगन गदा गदी तो रही एक दिन लाए प्राण दोनों जना बैठ माते हाँ बिलंग नागा में ना तो तन माते रे कपड़ों ना ही આ મેં મુંડો કરી લેવાનો હવે જા जा गटर में गया पड़ा घोड़ा में गधा मत बैठे बैठे अब लोग दूरे दूरे करे कौन नागा नागे कौन देखे मार जना क्यों कुमार क्या माँ तो बूढ़ी जात हाँ तो केड़ी जात और माने बांडी जात गिने हैं लोग फिर वास्तव में बांडी जात हाँ एक ठाकसा में अर्थ घालू वो आप बताए दो तो मैं भूडो बोलना छोड़ अरे बहन चौदह चौदा ने माता गाबो ना करे माता चौदह कौन दर्शन करे ना बोल वहाँ कोई गाबो ना क्यों करिए मैंने अरे वो कुमार बोलियो कि मारी बात और छान कर दो मैं भूडो बोलना छोड़ तो कई बात है जाने की छह पग दो मोचड़ी और हम यहाँ बोटड़ी डॉक्टर साहब बताओ कहीं अब माने तो हंग फिरोड़ी पड़ी तो सब लोग बैठ अब किन आवे रखिन थी उपजे आ थी छे तो पगन दो मोचड़ी और हम हम बोस अब हंग तगम पड़ गया तो ठाक साहब ये बात और तो साण बताए दो माँ आज गुंडा बोलना चाहूँ कौन आई हुकुम साहब कह रहे भाई मान तो नहीं आवे तो ये बताऊँ दिन तो खड़ी आ गया कुमारी ने खड़ी ला बोलो सर कई कई बात हुई है कौन गदरे लारे दिया करे लुगेरे धकेया करे बार लारे पे वजन हम हम इधर लुगेरे पगनियों पहने और चार पग में जन क्यों छह पग दो मोच छह पग दो चार गदरे दो उन कुमारी हदा कुमारी पगनियों पहने और पगनियों पहने जन क्यों छह पग दो मोचड़े हम हम बोचड़े वाह कह रहे बालो बालो का बोलता रहो मुंडा कितने दिन करता रहो मारने सही से जाता रहो मादर सोता रहो वाह कुमार कुमार कर आया ठाक साहब ठाक साहब लोट बैठ गया इतनी बात और इतनी रात अब जाट रे लड़की की बात जाट रे लड़के एवड चलाओ रात पर एवड चलाओ तेरो दिन तो योजन खानदान एवड रात तो ऐसे कृपा में एक बात बनी को जो वह लड़की कोई लुगाया मैंने इनको हिंदड़ा मैंने इन्हें क्या मैं कोनी मतलब भयंकर बहन चुन कोई बोतने साहब वाह को एक दिन तो समय और पचा हाथ लड़ी है पचा हाथ लड़ी जाना कहीं के जाना बरसात है अरे कांकड़ में चला बरसात आई जाना दे कर हमारी लड़ियां भेज दे कहीं जनों को पग चौड़ा कर सब लड़ियां ने बुलान गाली बोली गान पर भेज दूँ वाह हुकुम बाप आयो गोगी ले के भाई मार सॉरी भेज जाई हाँ बाप आयो गोगी ले थोड़े टाटा डबी टिम टिम टिम टिम बत जरा के बेटा भेजी गए के भेजी तुम्हें एवड कटे के उड़ एवड तुम्हार कने आज तो हो गयो आ गोगी ले ले तो गोट चाटा पड़े वाह चार पाँच मिनटों चाटा डब गई भर के रोएगा तेल क्यों निकल अरे बेटा एवड कटे है कुत्ता कोई मारना कि नार वगैरह तो एवड कटे कैसे होत मत कर एवड तो मार कने तो है कटे एवड बस कने का यार बनता नेट नेट दूर में दिशा को एक लड़ी रोंग तो कैसे हैं मुंड उठे उठे फेरो मैं एवड में काटो पापा तो पग थोड़ा कर छिछकर लड़िया ने अरे अरे अरे अरे पचा हाथ लड़ी बात अब बाप देश की और मर गया अब इन्हें एड़ो भरकट हो दूं <laughs> ભરમેના એડા ભરમેના આપે ને या एडो भरकट हो वाह हुकम हो तो हुन देनो गांव छोड़ी के भाई एडो बरहम कटे अब जावा जटे एडो भरकट फिरता फिरता फिरता फिरता कई महीना बीत अब एडो कटला एक जगह हुकम ला तीन भाई एक जाट में जेको <coughs> मार्ग में मिली चिड़िया उठाओ तो खेत में लंड लांबो कनि फेंके तो चारों खुणा फेर पाता अहिड़िया चारों खुणा फेर पाता कोई गोपने गोपने रखी दे ओ अपन काम है तार बाकी अपने लड़के कोई बदलूद तो नहीं वाह कम <coughs> पूछो किसो गांव किसो गांव वाह કેટલા ભાઈઓ છે કે ભાઈઓમાંથી કઈ કઈ કામ કરે કે બડોડો તો ઘરે જાય આમાં ચોમાસા દિના મેં એક છીન છોડી ભાગી જગો લંડન સોગો દેવડાનો હતો ઉઠ્યો લંડન સોગો દેવડો છે ને કે હા સર એક કે કણે નંદી આજા કરજા તો આજના નિકાળનો વાસ છે લાંબો પિસાર છે લંડન માત્ર બહુ ગાજા कूट है नंदी हवा वो बाहर बना पहुंच और दूसरा कोई वाह ठीक है और गाँव आप लोग होगा मेरी साओ राम राम करता गाँव के पुराना गाँव आगा क्या कोई मारे बाल बच्चे अब दूजो तो वो पनाह कौन सवाल ही कोई माँ कोई मान ही नहीं कोई बनाए वाह को अब जो क्या राजी हो चौधरी ये जरूर से मानसी लड़का अब देखो एक तो मैं हूँ तो जो आलकारी की मिल कौन जो आते हैं वहाँ तो फरन होगी तो उठो को दिया हूँ तो देखिएगा देखो चिड़िया उठो उड़ाओ तो जगह खुदा के देख ना तो ये कहीं करे सके नंदी है जो घड़ी थोड़ी नंदी आ जा जाना හොලන මාතකර කාණ්ඩ අඥ लांबोकन कोटा महल जो नमात मात मात मात आदमी निकलो पाता आप लोग बंद कर लो ठीक से गए आदमी ने देख लो तो खा लो देखो तो उठे गए नंदी माता रात दिन उठे रहे कोई आदमी ने काटा कहीं गया गया बसा जरूरी बसा जरूरी नंदी चली तॾहिं अपेलो पारा आदमी आया अरे तो आदमी अंदर था भई वाह वाह अपन निकिरे वाह कम आवाज़ दी के भाई माने तो मैं आ रहा मां जट उठा लखिंदर खड़ो कर के भाई आ हलो भाई आवरा चालीह पचास आदमी अंदर माता कपा चाप बंद कर दिया चौधरी के गाँव भाई आठ ओवर थे पचा हट लड़ी ලඩි गाल ली तो वा कहता एल ओ पजाओ ठीक है ना अपन बैठ वा शर्मन कर दियो कम अब शर्मन कारण एक झोपड़ा में होने में होने जरा अब घणो देखनो धर्म नहीं पर बाप देख तो कई हालत होया देख तो वाह गुम गड़ी दो गड़ी बातें करी और पता सेंसरी बार करियो टांगा लेन छिपियो के 지표그 모토간 दिए और माता 맞 लड़को कि सही तो कोपाली फोन मारने निकल गया फिर वहां दियो हम फेट रहा आने में भर जाना वहां होगा वो झोंपड़ा वो बागा मांग के देख अब जाना मस्त है ए, मैंने देख लो जन्म नहीं हो पर अब मार जीत था अब बस मत वाह हुकुम ठीक दे दी दे मैंने खूब खाया घुमाया मजा कर लिया लेन देन कर लिया और तो बात है और इतनी रात है सूरदास तेरी बात ये गांव रे मायने आंध्र सूरदास है तो।, तो अच्छो आदमी हो लेन देन हो एरो ने खाना पीना रहा गांव रहा प्रबंध करता ले जाए रोटी दे देता हम्म। लेन देन कर देता चला उतारता जगो वो नंदारी जाता था एक दिन तो समझ लेगी जाटनी बहुत मालजा दी रहती वहां गई रोटी ले हम्म। आगे सूरदास हो हम्म। जो लंगोट है माता माया कर वो उठ रहो लंदुआ देख देख ले दोनों बातों एक चीजें रात देख ले मान ले काम लंड पड़ो अपन मजा आ जाएगा मैंने उठाओ सूरदास सूरदास ने वहाँ पाँच पच्चीस रुपया लेगी तो दस लेगी तो अच्छा डावर उठे महाराज रोटी जी क्या लाभ है रोटी अब हुकुम जी रोटी और बेटी कर बहन अब उन्हें बातें पूछ कई बातें करनी करे कई बातें करनी करे कई बातें करनी करे कहीं महाराज ने हाथ में हाथ दे महाराज पर था एकलन था के आवड़े यूं कन वाह जितनी बातें में जितनी वे बदमाशी करे वो तो बाबरो कदी धंधा करीड़ो ज कोन्हे उन्हें कहीं धंधा भेज वाह પણ આ કઈ મરદો નહીં લોકો હાથ લાગે કરે પછી શરીર તો ચેતન વેચ કરતા કરતા કરતા કરતા કરતા કાશ તોરે બાત લાગ્યો પછી महाराज थाने लोग भी नहीं रहा क्या बच्चा में लोग तो है तो हम क्या करें वो कहता कि महाराज राशि बाजी और बच्चा गया के रखा तो मैंने कौन ले जा मैं कर दे कि महाराज रिपिया कितना कि रिपिया तो बहुत तो आप हाथ रिपिया मन दो मैं आपने बच्चे को रहूँ बच्चे को अच्छा, अच्छा? हाँ, सूरदास जी मैं कारण हमारे जैसे रिपिया होगा टहल टहल टहल टहल पचन भी नहीं महाराज काही नंदीने किनारा મને હોય કે જંગલ જતો રહ્યો ને અમે જંગલ કોણ લેતા ઓ મારે ગયું હોય એનું ગેડ્યું થોડું થોડું થોડું જવાનું છે આકરામ જંગલ જવાનું પાછા જેને કે મહારાજ નંદી માલો પર નંદી ડાવે તો અચ્છા વા જંગલ જાતા હા કે હા કે ચાલ વાહ बाबू आखर मां ले गोल करे महाराजो तयारियूं अगा मेथी लेकी ट akutlin cepay. Cepay doya gab ka diyan महाराज ने मजा आयो ये तो चीज जैसी के पास हुई तो हमार यार तो कहीं करो साली एक दो आंगल लूंडी डाली अंदर इतना मजा आया तो मैं हम अंदर चला जाऊंगा तो मजा कितना आएगा आपको <laughs> अरे तारा यार बोटे को हम मैं जा गए अब तक मजा लेना तो आप ले लेने मैं चला जाऊंगा है मुझे मैं मारा तुम बोला पागल अरे मैं तो देख गया बहन से दो अंगल ढूंढ तो डाली इतना मजा आया तो मैं हम उधर चला जाऊंगा उसका कितना ही मजा आएगा वाह हुक्म उन्हें क्यों ये मजा लिया मजा से मजा आए खूब परे महाराज काम करियो काम करने वापस रोज ना और रफ्तार पड़ गई बावे है ना आशीष करें नहीं चले आवे ना आशीष करें नहीं चले करता करता करता कई दिन बीत गया और महाराज होता क्या पंहिंजो तो हूंदे क्यों ना हूंदे कयो फिर पूछ रहे हिसाब में आप जानोगे ही हाथी वेदन आदमी ने थोड़ा हड़ पड़िया वो गिरफ्तार पड़िया पकड़िया बद पास डील कर ले बाजू एक बार आदमी थाकना पड़े वायो करता करता हूँ कहूँ थाने ठापड़ी माने ठापड़ी उन्हें मैंने ये तो मान तो आराम तो मान तो सुरदास ने बिगाड़ दी <laughs> सुरदास तो रोजी नौ दिन तो करा करो पैसा लेगी हैंग बापड़ा वाओ कम करता करता कई दिन बीत गया कोई देख आगे अपन कहीं ले माथ लो कोई के नहीं भाई यूं तो नहीं होना चाहिए वापरा भविष्य अपन गाँव का पैसा ए, अभी सोरदास से आदत खराब कर दी अब जो कोई रोटी लेने जावे दूसरा हाथ पकड़ ले तो कितनी बदमाश भी है और बाकी नहीं सीधे साधो आप रोटी खाने ठाव पाता पकड़ा दो और लेन देन कर दो वाह हुकुम એવું કરનું એવો ગામ એક જ ભેળો ભેળો બોલાય चौधरी ने बोलेंगे चौधरी की भाई थारी वो आदत पकड़ ले सूरदास से आदत खराब कर ली पया हाथ और कौन बाप रंग खोज लिया कह तो थारी लोग डाब ले और नहीं तो बस मैं गाँव वाला बंदोबस्त कर तो उसे लुगे डाब मैं क्या डाबू लुगे कोई मार डाबी जुड़ जाए लुगे कोई रुका रुकाड़ी जाए के लुगे आधा दिन रुका लेते क्या आधा दिन कट कट नहीं राख सकते हमारे को जय में ताटपुर में रखूंगा जाए मैं जरूर दे देखो हम जी जो तेरी मर्जी है अन्य में जी नहीं जो भावी में जी मैं कहीं मारे में कोई हक दे नहीं हम्म। वाह सा एवं करता करता करता करता कई दिन बीत गए हम्म। उन हम जाते उन वो क्यों को नहीं कहने में मीठा हो सिंचो गयो धीर से जाना पड़िया सवा वे जासी जीव से देखो आदत पड़ गई है बात छोड़ने की बहुत मुश्किल तो हुक्म अब वो बात करे चौधरी सुनो एक चौधरी ठीक वो पनीर दिन आई तो उन्हें लड़के ऐसे आते आई पति पर और वो आदमी ऐसा आता है और लड़की ने जो कोई काम रो नहीं लाइक नहीं इतो तो बेमिलो नहीं तो ये हजार बातों का काम वहां से तो अब कटो आओ खेत में आओ गाँव में आओ ठोकरा मैंने सवाल कर रान उठ कहीं करती फलाना करना कहीं करती होतरा करना कहीं करती अरे गर्दनी मैं कोई धंधो नहीं कर सकूं कह तो काश सारी देखियो और और आग को कोई काश नहीं देखी और मन तंग मत कर तो वो तो हुक्म ठोकना सवाल के धंधो नहीं काई वेगी કઈ વેકી દિનો હુકમ કઈ કર્યો કે એક દિનો સમય એ કોઈ પઠાને શયન કરી શયન કરી બસ దానికి ఫలన్ టైం తూ మారు బాడమాట वाह ऊपर अगर कूद भेद माता आई वो अब आया थोड़ा देर लौटे जिमने दो चार धूप ले लिया रान लौट बात ना कर लौटे क्यों करते कहीं करते वाह हुकुम अन्न रोटी जिमने बिराज का अन्न बात छाना नहीं ठाई क्यों नहीं ठाई इनके कुत्ता का रोटी अन्य राज में बल तो लेना टाना लेना बाड़ा बाड़ा में छोरा कराए और और हाथों नारो खोलाए और पाछे पकड़िया एक हाथ में छाना और लुगे रहे तो लुगे रहे मनु रहे रुका रहे लुगे तो आ रहे कोई कार्य वाह हुकुम अब है हुकुम कहीं करियो गए गांव रखे बोले वरंदा मात अब आपा कहीं करा बात तो आप लोग पक्के की हो चौधरी अब ला लोगे ने रुका रहे तो कोई रुका सा आठ बोट दे में रखे काम धंधो कटे जाते रहे तो लुगे जात हर जरूर आदत खराब पड़े तो हर जगह हर से कर आप लोग काम कर ले आदमी मेरा रहे चाहे मोटम हो और चाहे छोटम और चाहे कठिन अब ये बात मात्र बात हो रही है रजारी और और चरवादा उन्हों खाने पे ढूंढ अब बंगी जरूर राजा कौन हो गए पर आदत हूँ राजा ओकर लिखाई ओकर करिए में नीरे बना चाहिए बानक बांटो मेल दो चीपटो नाक दो खोली के सीधो होकर तबाह तो कहीं कहते कि राजा रो सब नेम तेम टाड़ और एक लाख बंगी ओ उठे लेदर घोड़िया नहीं लेदर में के नहीं वो काम करते कट्टे तो शहद कट्टे कहीं तकिया कट्टे मिश्र जना जना गदरा पर वो लेदर में करा आदत पड़ गई वाह कौन कई दिन काम चल जाओ चल बोकरियो एक दिन रो तो समय यारो आज लेट आई లేట్ ఆగిదన్న పచ్చడి పడి గోడి ఇలాగా ఉంది టైం ఎవడుందండు మా అద్దె సోదరుని లేట్కే చూడు ఏ మాది లేట్ और पच फिर उन्होंने उस और पच एक दिन बड़े बात में बोले एक दिन तो समय अंदाजा देख ये बंगी जड़ो मैं कोनी रान पचे जा कर मन हुआ हुआ पचा ये बंगी गंजा तो इनमें हवा देते हो कहीं मार में कहीं काट बड़ा हुक्म अब रानी ने पूछा कि बोल को भंगी कन करवा कौन की मैं करवा कि चामड़ो फाड़ने में कोड़ा बाकी छत बता मारे में कहीं कांटा और में कहीं इमरत चीज एक ही एक है घी तो घी क्यों तो कहीं दूर नटबो के आप जानो मैं चौर आदमी जो हाथ छोड़े बोले करे ऐसा मैं पता नहीं मैं जा सकूँ कहीं भगे कर मैं रह सकूँ कहीं आप यूँ कहीं बुढ़ी बात करो आपने कोई ऐसे कोई कह दियो कोई फलानो कह दियो अपनो आएगो लेन देन कह दियो कि नहीं रानी साथ में कहीं हिसाब तू जार कहीं हिसाब आए जो मैंने बता इनो रस्तो बता जाने कहो कि आपने रस्तो कहीं बता आपने नहीं दी कि जिनकी औरत आगरा गर्दन से नहीं जाती है माओस धंधो करे और आप राजा आप री इंद्री होती और मारे नहीं तो काम अच्छो बने ना ठिकाने पोगे इन वास्ते मैंने कोई धंधो करो धंधो करना पड़ियो अब चाहे मारो और चाहे चारो हरिजन है और चाहे करो ये आप बताओ पूरा तो मारा काम है ए सवयो मन मजा जिन्हें भंगी वो चाहे कोई और चाहे कोई जात हो अब ठाक साहब सुनो एक बात किसो एक आप लोग सुनो कि निंद्रा नहीं देखे तो लुको बात तिस ने देखे दोबेरी घाट निंद्रा आते नहीं भोग लागी जुड़ी है तो होकरा टुकड़े उन हीरो जो लागे नींद आते तो आंगन में आ जाए वह कोई खाटने मत यानी कि वो भोग नहीं ले देखे लुको बात है निंद्रा ने तिस ने देखे दोबेरी घाट है तो निंद्रा नहीं दे के टूटो खाट है तो हुकुम इश्क नहीं दे के जात को जात इश्क में पजड़ो है वह जात को जात कुछ नहीं देखे